चलो अभी ये केस तो खत्म हो गया अब जैसा प्रोसीजर है वैसे ये क्लोज होगा विक्रांत ने कहा लेकिन अभी अभी तुम्हारे पुलिस स्टेशन का एक और केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है तुम लोग उस पर काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते यही सही मौका है इस केस को भी क्लोज कर दो कौन सा केस ओ वो अचानक से पीके साहब को केस याद आ गया आपका मतलब वो old lighthouse murder case sir मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है हर्षित इस वक्त अशोकन की माँ यानी कि बासु लहरी के इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़ा था उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा बासु मानसिक तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है सो मुझे नहीं लगता कि वो हमसे किसी भी तरह का झूठ बोलेगी हर्ष भी ठीक उसके बगल में खड़ा था उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा वैसे फिल्म क्रू वाला मर्डर केस अकेले ही उन दोनों को मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है लेकिन हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लाइट हाउस का गार्ड ऑलरेडी मर चुका है वो वजाहत अली की भी मौत हो चुकी है अब चाहे बासु सच बताए या झूठ क्या फर्क पड़ता है क्या बातें कर रहे हैं हर्षित ने हर्ष को टोकते हुए कहा अगर लाइट हाउस के गार्ड का मर्डर उसकी पत्नी बासु द्वारा किया गया था तो फिर इसका मतलब ये है कि वजाहत अली को गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया था अब भले ही ये लोग मारे जा चुके हैं फिर भी कम से कम इनका नाम तो केस से हटाकर उनकी आत्मा को तो शांति ही दी जा सकती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सच्चाई सामने आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा शायद फिल्म की कहानी से बासु बेहद नाराज थी है ना विक्रांत ने अनुमान लगाते हुए कहा तो मुझे तो लगता है कि बासु ही असली मर्डरर है सोचने वाली बात है वजाहत अली को गार्ड ने पानी में डुबोने से बचाया था अब वो भले ही ज्यादा इंजर्ड नहीं था लेकिन फिर भी यार ऐसे कंडीशन में वो भला किसी के साथ रेप कैसे कर सकता था और दूसरी चीज वो बासु से प्यार करता था फिर भला उसका रेप क्यों करेगा उसने अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा और अगर वजाहत ने किसी का मर्डर किया था तो फिर वो सुबह तक लाइट हाउस के पास क्यों रुका रहता वो पुलिस के आने का इंतजार क्यों करता रहता चलो एक बार के लिए ये भी मान लिया कि वो जानबूझकर खुद को पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहता था लेकिन फिर जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो फिर अंत तक वो क्यों बोलता रहा कि वो बेगुनाह है उसने सिंपली पुलिस के सामने अपना जुर्म एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया हर्ष ने अपना पक्ष रखते हुए बेहद कॉन्फिडेंस के साथ हर्षित से कहा अच्छा हर्षित तुम शर्त लगाओगे सर आप भी लगाइए ना विक्रांत ने एक नज़र हर्ष की तरफ देखा और बोल पड़ा ये बताओ मेरा शेरलॉक होम्स कहाँ है उसे कहाँ छोड़ा तुमने गाड़ी में है सर मस्त होके खाता है और मौत से गाड़ी में बैठकर घूमता है कभी कभी तो लगता है कि काश मैं भी कुत्ता होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी हर्ष ने जवाब दिया और फिर अगले ही पल उसने टॉपिक बदलते हुए कहा बताइए सर आप शर्त लगाएंगे मैं तो कह रहा हूँ कि वो वाला मर्डर भी बासु ने ही किया था नहीं मुझे नहीं लगता कि बासु ने वो मर्डर किया था विक्रांत ने कुछ सेकंड तक सोचने के बाद कहा अच्छा तुम्हें याद है इंस्पेक्टर अशोकन ने अपने बयान में कहा था कि जब भी बासु लाइट हाउस पर आती थी तब वो बेहद खुश होती थी यहाँ तक कि वो इस शहर से बाहर भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी अब खुद बताओ अगर उसका पति यानी कि लाइट हाउस का गार्ड उसके साथ ढंग से बिहेव ना करता रहा होता तो भला उसके मन में ऐसी फीलिंग क्यों आती ऐसा कुछ होता तो फिर वो दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचती भी नहीं ओ हर्ष को भी विक्रांत का तर्क बिल्कुल सही लग रहा था हाँ भाई शर्त लगाना है हर्षित ने मौका पाकर हर्ष का मजाक बनाते हुए कहा बताओ अगर शर्त लगाना है तो कितने की लगाओगे हम्म, सर हर्ष ने हर्षित की बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहा विक्रांत से कहा सर मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है हर्षित समझ चुका था कि अब हर्ष बात बदलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो हर्ष के कौतूहल होने का कारण जानना चाहता था सर मैंने पूरे केस को समझने की कोशिश की है हर्ष ने बोलना शुरू किया और ये बात मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इंस्पेक्टर अशोक ने जो भी प्लान बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट प्लान था इसमें कहीं कोई गड़बड़ थी ही नहीं सच तो ये है कि हम लोग अशोकन की किसी गलती की वजह से उसे ब्लेम कर ही नहीं सकते हम्म बात सही है हर्षित ने भी हर्ष की बातों से सहमति जताते हुए कहा मैं भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काफी दिन काम कर चुका हूँ और जिस तरह से हम लोगों ने लाइट हाउस के पास सिगरेट के टुकड़े मिलने से और फुटप्रिंट की मदद से अशोकन को मुजरिम साबित कर दिया है ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है भले ही हम लोगों ने ये शक जाहिर कर दिया था कि सिगरेट के टुकड़े अशोकन के थे लेकिन फॉरेंसिक वालों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो सिगरेट के टुकड़े वहां कब पहुंचे थे और ना ही अशोकन के फुटप्रिंट का कोई जवाब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास है सर सच्चाई तो यह है कि अगर अशोकन और उसकी माँ ने अपना गुना कबूल ना किया होता तो फिर हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे हम ये प्रूव कर सके कि इन दोनों ने ही लाइट हाउस के मर्डर केस को अंजाम दिया था हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वही तो लेकिन पता नहीं कैसे आपका प्लान काम कर गया हर्ष ने फिर बेहद क्यूरियस होते हुए सवाल किया मेरा प्लान काम कर गया क्योंकि मैं तुम लोगों का टीम लीडर हूँ अगर मेरा प्लान काम नहीं करता तो भला मुझे तुम लोगों का टीम लीडर क्यों बनाया जाता विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा एक्चुअली मैंने अशोकन और उसकी माँ के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला था फिर विक्रांत ने गर्वान्वित होते हुए कहा जब मुझे अशोकन के ऊपर शक होना शुरू हुआ तब मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि जब तक मैं दयाकर रेड्डी का पता नहीं लगा लेता हूँ तब तक हम अशोकन का कुछ नहीं कर सकते तो इसीलिए मैंने अशोकन और बासु से सच निकलवाने के लिए कुछ खास तरह की स्ट्रेटेजी बनाई विक्रांत ने फिर आगे बताते हुए कहा वो प्रसाद का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सामंता का अशोकन के ऊपर बंदूक तानना और फिर बहादुर का बोर्ड से कूद कर भागना हर्ष से वीडियो की एडिटिंग करवा के उस बासु को दिखाना ये सब मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा था मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अशोकन दबाव में आकर सब कुछ बोलना शुरू कर दे विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा जब अशोकन थोड़ा दबाव में आया तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि उसने कुछ गलती कर दी है और मैंने उसकी गलती पकड़ ली है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था उसने क्राइम करते समय कोई गलती नहीं की थी बस इस टाइम दबाव में आकर ही उसने गलती कर दी थी फिर जैसे जैसे वो घबराता जा रहा था मेरा विश्वास और ज्यादा पक्का होता जा रहा था फिर मैं उसके ऊपर और ज्यादा दबाव बनाता जा रहा था अंत में बेचारे को अपने मुंह से सब कुछ बताना पड़ा हम्म बट सर सही बताऊं तो आप जब उसके ऊपर चिल्ला रहे थे तो उस वक्त मुझे भी बहुत डर लग रहा था हर्षद ने विक्रांत से कहा लेकिन विक्रांत ने आगे बात जारी रखते हुए कहा सबसे खतरनाक चीज तो डीएनए रिपोर्ट थी और इसके लिए मैं चौटाला साहब को बहुत थैंक यू बोलूंगा उन्होंने बिल्कुल सटीक टाइम पर डीएनए रिपोर्ट भेज दी थी और फिर जब अशोकन को यह पता लग गया कि पुलिस ये जान चुकी है कि वही लाइट हाउस के कपल का बेटा है फिर तो उसके लिए अपना मुंह बंद रखना नामुमकिन ही हो गया डीएनए रिपोर्ट आने के बाद तो वो कंफर्म हो गया कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता हर्षद ने फिर सहमति जताते हुए कहा अशोकन तो वहां लाइट हाउस पर जाकर सुसाइड भी करना चाहता था धाम अचानक से इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे को पीटने की जोर से आवाज सुनाई पड़ी और दरवाजा खुलते पीके साहब हड़बड़ी में भागते हुए नजर आए बासु बासु को वो काफी घबराए हुए थे उन्होंने चलाते हुए ही वहां पर मौजूद पुलिस वाले को ऑर्डर देते हुए कहा जल्दी करो एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आया वो भी काफी हड़बड़ी में था जल्दी से वो इंटेरोगेशन रूम की तरफ दौड़ पड़ा वहां बासु जमीन पर लेटी हुई थी वो दर्द से करा रही थी और उसे लगातार वॉमिटिंग हो रही थी उसकी हालत बहुत खराब थी और देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो फिर उसकी जान भी जा सकती है तभी एक पुलिस वाला भागते हुए बासु के करीब पहुंचा और उसे दबोच लिया शायद उसे बासु की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी उसे लग रहा था कि बासु भागने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो उसे पकड़कर रोकने में लगा हुआ था छोड़ो से उसके कपड़े ढीले करो अनुष्का ने चिल्लाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने फर्स्ट एड का किट खोलकर उसमें से बैंडेज वगैरह निकालकर बासु के मुंह की ओर लगाना शुरू कर दिया बासु अभी भी छटपटाहट के साथ अपनी बॉडी झटके जा रही थी और अपनी आंखें इधर उधर पलटे जा रही थी